पुत्रवते जुब ते जग सोए रघुपति भगत जासुसुत हो न तरु बांझ भरी बाद बया राम विमुख सुत तेहित जी तु भाग राम बन जाहे दूसर हे तू सत् कुना सकल सुकृत कर बड़ फल ये हो राम से अपद सहज सने संसार में वही युवती स्त्री पुत्रवती है जिसका पुत्र श्री रघुनाथ जी का भक्त हो नहीं तो जो राम से विमुख पुत्र से अपना हित जानती है वह तो बांझ ही अच्छी पशु की भांति उसका ब्याना पुत्र प्रसव करना व्यर्थ ही है तुम्हारे ही भाग्य से श्री राम जी वन को जा रहे हैं हे तात दूसरा कोई कारण नहीं है संपूर्ण पुण्यों का सबसे बड़ा फल यही है कि श्री सीता जी राम जी के चरणों में स्वाभाविक प्रेम हो रागुन रोष ईर सा मदमोह जनि सपने के बस हो रागे श्रोषु रो सा मदमोह जनि सपने होन् हे बस हो सकल प्रकार विकार बिहाय मन क्रम वचन करहु सेवका तुम कहु भा तुम कहु बन सब भाति सुपाशो संग पे तुम तो राम सिया सिय जय न राम बन लह करे कलेशु सुत सोय करे हो उपदेश राग रोष ईर्ष्या मद और मोह इनके वश स्वप्न में भी मत होना सब प्रकार के विकारों का त्याग कर मन वचन और कर्म से श्री सीताराम जी की सेवा करना तुमको वन में सब प्रकार से आराम है जिसके साथ श्री राम जी और श्री सीता रूप पिता माता हैं हे पुत्र तुम वही करना जिस श्री श्री रामचंद्र जी वन में क्लेश न पावे मेरा यही उपदेश है उपदेशु यहु जहितात तुम रे रामशिय सुख बात प्रिय परि वारपुर सुख सुरति बन बिसरावहि तुलसे प्रभुहि सिख देयसु यसु दीन पुण्यासि सदयि रति हो अविरल अमल सिय रघुबेर पद नित नित नई हे तात मेरा यही उपदेश है अर्थात तुम वही करना जिससे वन में तुम्हारे कारण श्री राम जी और श्री सीता जी सुख पावे और पिता माता प्रिय परिवार तथा नगर के सुखों की याद भूल जाए तुलसीदास जी कहते हैं कि सुमित्रा जी ने इस प्रकार हमारे प्रभु श्री लक्ष्मण जी को शिक्षा देकर वन जाने की आज्ञा दी और फिर यह आशीर्वाद दिया कि सीता जी और श्री रघुवीर जी के चरणों में तुम्हारा निर्मल निष्काम और अनन्य एवं प्रगाढ़ प्रेम नित नित नया हो मातु चरण सिरनाय चले तुरत संकित हृदय बागुर विषम तुराय मनहु भाग मृगु भाग बस माता के चरणों में सिर नवाकर हृदय में डरते हुए कि अब भी कोई विघ्न न आ जाए लक्ष्मण जी तुरंत इस तरह चल दिए जैसे सौभाग्यवश कोई हिरण कठिन फंदे को तुड़ा कर भाग निकला हो गए लखन जह जान के हो बेमन मुदित पाए प्रिय साधो राम शिय चरण सुहाए चले संग निप मंदिर आए परस्पर पुर नर नारे बलि बनाए विधि बात बिगारी तन कृष बन दुख बदन मलिने विकल मन हुमार खे मधुछे लक्ष्मण जी वहाँ गए जहाँ श्री राम जानकी श्री राम जानकीनाथ जी थे और प्रिय का साथ पाकर मन में बड़े ही प्रसन्न हुए श्री राम जी और सीता जी के सुंदर चरणों की वंदना करके वे उनके साथ चले और राजभवन में आए नगर के स्त्री पुरुष आपस में कह रहे हैं कि विधाता ने खूब बनाकर बात बिगाड़ी उनके शरीर दुबले मन दुखी और मुख उदास हो रहे हैं वे ऐसे व्याकुल हैं जैसे शहद छीन लिए जाने पर शहद की मक्खियां व्याकुल हों करमी जहि सिरु धुन पछता जनु बेनु पंख बिह गया कुला बड़ी भी वीर भूप दरबारा बरने न जाए विषादु अपारा सचिव उठाए राहु बैठा रे कहे प्रिय बचन राम पगुधारे सिय समेत दो तनय निहारे व्याकुल भय भूमिपति सब हाल हाथ मल रहे हैं और सिर धुनकर पीट कर पछता रहे हैं मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हों राजद्वार पर बड़ी भीड़ हो रही है अपार विषाद का वर्णन नहीं किया जा सकता श्री रामचंद्र जी पधारे हैं ये प्रिय वचन कहकर मंत्री ने राजा को उठाकर बैठाया सीता सहित दोनों पुत्रों को वन के लिए तैयार देकर राजा बहुत व्याकुल हुए सहित सुत सुभग दो देख देखिय बार बारही बार सने बस रावले सीता सहित दोनों सुंदर पुत्रों को देख देख कर राजा हकुलाते हैं और स्नेहवश बारंबार उन्हें हृदय से लगा लेते हैं